उत्साह वहे आदर्श वहे चिंतन वहे सीता का था अनुराग वहे अभिलाष वहे वही स्वरूप छोटा सा था पहुँचे अशोक वन में जब यह तो दृश्य विचित्र उपस्थित था कहने को वह अशोक था पर सर्वत्र शोकयाच्छादित था सुनसान विपिन की कुटिया में जब कुछ रजनीचर उपस्थित थे बाहर पत्थर पर प्रतिमा से वैदेही ध्यानावस्थित थे पृथ्वी के ओर देखते थे टकटके लगाए बैठे थे मटियाले बड़े बड़े अलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थी अब अंग विरह के झुलसन से हो रहे सूख कर काटा है थी ऐसे छील काय मालो हड्डी का ढांचा हाटा है आँखों में राम रम रहे थे विश्वास हृदय में गहरा था यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था इतने संकट के होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थे था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्निशिखा से दीपित थी थे नहीं वियोगिन योगिन थे गोदे में माँ वसुंधरा के आकाश देव की छाया थी रक्षा थी पवन देवता की रामदूत ने दूर से समझे सारी बात कुंडल फेंके जिन्होंने यह वही है मात रघुवर में लीन प्राण इनके रघुवर इनके प्राणों में है इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है नारी सुंदरता पति है पति सेवा में यह वंचित है नारी सुंदरता पति है पति सेवा से यह वंचित है इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित है संसार राम सीता तक को संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है चरणों में अभी लौट जाऊं चरणों में अभी लौट जाऊं ये तो मेरा यह कहता है घबरा जाए माता न कहे यह संशय रह रह उठता है अच्छा मन ही मन है प्रणाम शुभ दिन तो सन्मुख आया है भागे है यह रामदूत माँ का दर्शन तो पाया है पत्ते खड़के उसे क्षण गगन हुआ कुछ लाल दिखलाए दे दूर से जलती हुई मसाल समझ लिया आ रहा है इसे और दस माथ मंदोदरी आदि कई सुंदरिया है साथ सोचा थोड़े से रात रहे यह अवसर तो पूजा का है रावण ये समय आ रहा है क्या है रहस्य कारण क्या है राक्षस भी है माता भी है छुप कर देखूं क्या होता है सब भेद जान कर ही प्रगटूं इस अवसर यही अच्छा है यद्यपि माँ को की दशा से व्याकुल थे हनुमंत दस कंधर आया इधर बोल उठा कर जोर यद्यपि माँ के दशा से व्याकुल थे हनुमंत फिर भी वृक्ष यशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत दस कंधर आया इधर बोल उठा कर जोर कृपा दृष्ट से देख ले सीते मेरी ओर यह सुनते ही सिया के लगे हृदय में चोट बोले नीचे दृष्टि से कर के की ओट काछा थी कृपा दृष्टि के तो वह शिव धनवा थोड़ा होता बल था तो उसे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता तू योद्धा नहीं चोटा है तू योद्धा नहीं चोटा है हर कर लाया है अबला को छल बल अब भी दिखलाता है समझा ही नहीं सत्यता को वह बोला छल बल नहीं नहीं और कुछ ध्यान दस कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान पर तुम में अब तक पर्दा है पर तुम में अब तक पर्दा है आंखें नीचे ही रखती हो तिनके की ओर देखती हो बातें दस मुख से करती हो तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है क्यों उसे बीच में लाती हो क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरी जिन चरणों के दासे हूँ मैं तिनका है तिनका दास सदा यह मन है जिनके पास सदा तिनका भी तिनके पास सदा हे तिनके से भी गिरी जीव तिनका ही मेरा पर्दा है घूंघट का पर्दा पर्दा क्या पर्दा तो आँखों ही का है पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका सीता से नाता है जिनका सीता से नाता है जिनका अन्यथा ये कदिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका धिक्कारेगा तिनका तिनका संपूर्ण रात जुगनू चमके उनसे कब नलनी खिलती है होता है प्रातः काल जभी तब स्वयं कमलनी खिलती है यह आंखें अगर कमलनी है यह आंखें अगर कमलनी है तो इनके प्रिय श्री रघुबर है तो जुगनू से भी घटकर है वे सूरज से भी बढ़कर है लंकापति सम रमिसम अवध कुमार रावण यह सुन जल उठा रावण यह सुन जल उठा कहा खी तलवार अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है अब अंतिम बार कह रहा हूँ यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब महाबली नारायणी बोल उठी अभिलम्ब हे कायर पामर रजनी चर क्यों पशु बल पर इतराता है पिंजरे में फंसे सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है तलवार मुझे मेरे सत को सत्य है काट नहीं सकती मेरा पावन चरित्र लोहू मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती सतवंते का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है सतवंते का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है व्रत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है मत समझ अकेली है सीता मत समझ अकेली है सीता उसका मालिक है साथ सदा इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा रम रहा नाथ रघुनाथ सदा पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं तलवार उठाना अबला पर क्या मरदानों की बातें हैं लंकेश कायर है तू लंका में मुझे छुपाया है जा लजा डूब जा जल निधि में क्यों खड्ग दिखाने आया है वह हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें यह खज्ज उठाई है नभ के नक्षत्र न अंधे हैं बहरे ने पावन के झोंके हैं नभ के नक्षत्र न अंधे हैं बहरे न पावन के झोंके हैं तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखते हैं इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है